साक्षात्कार का साधन श्रवण मनन निधिध्यासन है श्रवण है प्रधान अंगी वेदांत प्रमाण से ज्ञान होता है श्रवण के द्वारा तात्पर्य निश्चय होता है श्रुति तात्पर्य निश्चय होने पर महावाक्य से लक्षणा करके जीव ब्रह्म की एकता का साक्षात्कार होता है साक्षात्कार होने पर भी प्रतिबंधक निवृत्ति के लिए मनन निधि ध्यान आवश्यक है मनन निधि ध्यान है अंग तो ही है श्रवण तो प्रतिबंधक निवृत्ति के लिए श्रवण मनन से प्रमाण प्रमेय संशय दूर होने पर भी चित्त में अनेक अनेक काग्रता दोष है देहादि में अहम बुद्धि विपरीत भावना है उसके लिए योग अनुष्ठान करने के लिए आगे उपदेश करते हैं तदर्थो योग उच्यते यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टति तामाहुः परमाङ्गतिम् यदा पंच ज्ञानानि मनसा सह अवतिष्ठन्ते पंच ज्ञानानि ज्ञान शब्द ज्ञान साधन के लिए भी प्रयोग होता है ज्ञायत अननेति ज्ञानम ज्ञमतिर ज्ञान कहेंगे तो ज्ञान हो जाएगा तो यहाँ ज्ञान इंद्रिय को ज्ञान शब्द से कहा कर्ण में ल्यूट करेंगे तो ज्ञान का साधन ज्ञान इंद्रिय पंच ज्ञानानि अर्थात पंच ज्ञान इंद्रियाणि मनसा सह अवतिष्ठन्ते स्थाधातु परस्मे पदे किंतु समव प्रविभ्यस्तः सूत्र से आत्मनिर्भर होता अवतिष्ठन्ते स्थिर हो जाते हैं मनसा मन के साथ पांच ज्ञान इंद्रिय अपने अपने व्यापार से निवृत्त होकर के स्थिर होते हैं बुद्धिश्च न विचेष्टति बुद्धि भी चेष्टा नहीं करती है बुद्धि भी अपने व्यापार से निवृत्त होती है मन बुद्धि में अंतकरण तो है मन संकल्पात्मक है बुद्धि निश्चयात्मिका है अपने व्यापार से निवृत्त होने पर अस्य अवस्था में तामाहो परमाम गतिम वही परम गति है तो ये योग अनुष्ठान करते समय ध्यान करने के लिए परमात्मा चिंतन करने के लिए जब बैठते हैं इंद्रिय प्राण को तो पहले रोकते हैं मन इधर-उधर जाता है तो रोकने के बाद अलग-अलग अवस्था आती है सब अवस्था को छोड़ करके केवल ध्येय का चिंतन आत्मसत्व मन कृत्वा न किंचित अपि ध्यान है तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम ध्यान है चिंतन ध्येय चिंतायाम धातु से बनता है ध्येय का चिंतन लगातार तो इसमें स्पष्ट करेंगे अभी ध्येय को छोड़ करके बुद्धि और अन्य का चिंतन नहीं करती मन भी उसमें स्थिर हो जाता है वही परम गति है उससे साक्षात्कार ज्ञान होता है ताम गतिम आहु विद्वान लोग कहते हैं यदा पंचावतिष्ठन्ति यदा कहते यस्मिन काले इंद्रिय स्थिर हो जाएंगे कैसे स्व विषयभ्य निवर्तितानि आत्मनेव पंच ज्ञानानि विषय से निवृत्त इंद्रियों को विषय से हटा करके अपने गोलक में स्थापन विषय भी निवर्तितानि आत्मनेव ज्ञानानि अवतिष्ठन देखिए आत्मा में स्थिर हो जाती हैं अर्थात अन्य चिंता नहीं करके निवृत्त व्यापार हो जाते हैं पंच ज्ञानानि ज्ञान ज्ञानार्थत्वात् श्रोत्रादि इंद्रियाणि ज्ञानानि उच्यन्ते ज्ञान के साधन होने से श्रोत्र आदि इंद्रिय को ज्ञान शब्द से कहा गया ज्ञान इंद्रिय अवतिष्ठन्ते मनसा स स मनसा मन के साथ स्थिर हो जाते हैं इंद्रिय यदनुगतानि इंद्रियाणि मन से अनुगत होकर के ही इंद्रिय से विषय ग्रहण होता है यदनुगतानि इंद्रियाणि मन से अनुगत है तेन संकल्पादि व्यावृत्तेन अंतकरणेन संकल्पादि से रहित मन के साथ इंद्रिय स्थिर हो जाती हैं यह अदनुगतानि में टीका में दिया येन येन मनसा अधिष्ठितानि तेन तेन सह अवतिष्ठन्ते निवृत्त व्यापाराणि भवन्ति इत्यर्थः येन येन मनसा जिस जिस मन से आश्रित होकर के इंद्रिय जिस जिस मन से कौन से मनते के तो मन का टिप्पणी में दिया है सात्विक राजस तामस आदि भेद से मन विभिन्न प्रकार हो जाता है ऐसे ये न ये न है न टिप्पणी में दिया है जिस जिस प्रकार मन से आशित होकर के इंद्र व्यापार करते हैं तेन तेन सह तेन तेन मनसा सह अवतिष्ठन्ते का करता है इंद्रियाणि ज्ञानानि स्थिर हो जाते निवृत्त व्यापारिणी भवन्ति निवृत्ता व्यापार ये शाम व्यापार से रहित तो हो जाते हैं भाष्य में बुद्धिश्च न विचेष्टते बुद्धि अध्यवसाय लक्षण अध्यवसाय लक्षणम यस्य अध्यवसाय निश्चयात्मिका है बुद्धि लक्षण स्वरूप न विचेष्टति स व्यापारसु न विचेष्टते चेष्टते आत्मनेपदे श्रौत ऐसे आर्ष प्रयोग कहते हैं विचेष्टति विचेष्टते होगा सब व्यापार से न विचेष्टते व्यापार में व्यापार बुद्धि व्यापार चेष्टा नहीं करती है न विचेष्टते का तो न व्याप्रियते व्यापार विषय नहीं होती तामाहु परमाम गति उसको परम गति कहते हैं आगे ताम योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रिय धारणाम अप्रमत्तस्तदा भवति योगो हि प्रभवाप्ययो ताम योगमिति मन्यन्ते उसको योग कहते मानते हैं यद्यपि सब अनर्थ का वियोग होता है तो वियोग होने पर भी योग शब्द से कहते हैं स्थिराम इंद्रिय धारणा स्थिराम चलन वर्जित इंद्रिय का धारणा इंद्रिय स्थिर रहना इसको योग शब्द से कहते हैं अप्रमत्त तदा भवति तदा अप्रमत्तो भवति अप्रमत्त बुद्धि व्यापार समाधि करने के पहले प्रमाद नहीं करे अप्रमत्त होने पर ही आगे समाधि को प्राप्त करेगा अथवा कह कर दूसरा प्रकार अर्थ करेंगे जब ऐसे अवस्था आ जाती समाधि तब वास्तव प्रमाद का अभाव होता है नहीं तो प्रमाद रहता है तत्परता चाहिए नहीं तो प्रमाद से ध्यान कर बैठते हैं कहाँ कब चल जाता है तो पहले प्रमाद वर्जन करने के लिए विधान अथवा आगे कहेंगे दूसरे प्रकार भाष्य में तब इसे अवस्था होने पर जब इंद्रिय मन स्थिर हो जाते हैं तो अप्रमत्त वास्तव उसम होता है योग ही प्रभावाप्ययो पहले अप्रमाद प्रमाद का अभाव विधान करते इसलिए क्योंकि योग प्रभाव आप्य प्रभाव उत्पत्ति और प्रलय उत्पत्ति नाश कुछ वृत्ति होती है कुछ वृत्ति का ह्रास होता है कुछ अलग चिंतन करते कुछ अलग वासना का क्षय होता है बार-बार चिंतन करने से समाधि संस्कार बढ़ता है और वित्थान संस्कार का ह्रास होता है जितने व्यवहार करते उसके संस्कार होता है समाधि करने पर समाधि जन्य संस्कार से वित्थान संस्कार व्यवहार वृत्ति कम होती संस्कार नष्ट होता है ऐसे करके सारे संस्कार नष्ट करना अभ्यास करने पर प्रभाव हो इसलिए अप्रमत हो करके प्रयत्न करना चाहिए भाष्य में ताम इदिशिम अवस्थाम योगमिति मन्यन्ते वियोगमेव संतम इस अवस्था को जो पहले कहा तामाह परमांगतिम सब मन इंद्र बुद्धि व्यापार रहित हो जाने पर वो जो अवस्था है इस अवस्था को योगमिति मन्यन्ते योग ऐसे मानते हैं कहते हैं विद्वान लोग जो योग अनुष्ठान करने वाले वस्तुतः तो वियोगमेव संतम वियोग होता हुआ भी उसको योग शब्द से कहते हैं वियोग कैसे है टीका में योगमेव संतम योगमिति विरुद्ध लक्षणया मन्यंत इत्युक्तम तस्फुटयति वियोग होता हुआ भी योग शब्द से कहते हैं विरुद्ध लक्षण विरुद्ध स्वरूप है वियोग फिर योग कहते हैं विरुद्ध लक्षण से कहते मानते हैं ये जो कहा गया उसका स्पष्टीकरण करते स्पष्ट करते भगवान भाष्यकार भाष्य में सर्वानर्थ संयोग वियोग लक्षण ही यम अवस्था योगी न क्योंकि यह जो अवस्था है सर्वेषाम अनर्थायानाम संयोगानाम वियोग वियोग लक्षण यस्य अवस्थाया जितने सब अनर्थ का संयोग होता है सर्वेषाम अनर्थानाम संयोग सारे अनर्थ का जो संबंध है उसका वियोग हो जाता है इस अवस्था में ज्ञान होने पर अज्ञान कार्य के साथ नष्ट हो जाता है तो अज्ञान के कारण जितने अनर्थ होता है सबका वियोग हो जाता है तो यह अवस्था है सर्वानर्थ संयोग वियोग स्वरूप है तो वियोग होने पर भी उसको योग शब्द से कहते हैं ये अवस्था है योगी न योगी की अवस्था है वही जो निधि ध्यान करके समाधि में स्थित होते हैं एतस्याम ही अवस्थायाम अविद्या अध्यारोपण वर्जितः स्वरूप प्रतिष्ठा आत्मा इस अवस्था में अविद्या से अध्यारोप होता है सब कुछ सारा प्रपंच अविद्या आरोपित है ज्ञान होने पर अविद्या की निवृत्ति होने से अविद्या कार्य आरोप नष्ट हो जाता है तो स्वरूप प्रतिष्ठ आत्मा स्वरूप में स्थित होता है स्थिराम इंद्रिय धारणा स्थिराम का तचलाम इंद्रिय धारणा बाह्यांतकरणानां धारणां धारणम इत्यर्थ इन अंतकरण इंद्रिय करण बाह्य ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय है ज्ञान इंद्रिय है और अंतकरण है मन बुद्धि तो सम स्थिर हो जाती सब बाह्य बाह्यांतकरणानां धारणम स्थिर टीका में उपसंहृतम मनो यदि सुसुप्तिम गच्छेत तदा सा अनर्थ बीजावस्था भवति समाधि अभ्यास करते हैं जो समाधि नहीं करे गाढ़े निद्रा में सो जाता है अभी तो समाधि है सुपसंत तो मन मन का उपसार कर दिया करने पर यदि सुसुप्ति अच्छे थे कोई कोई ध्यान में बैठते हैं सुसुप्ति को चल जाते शांति पाठ के समय भी कोई कोई चले जाते हैं जो शांति पाठ में प्रमाद करते हैं शांति पाठ के समय भी नींद लग जाती है और जिनको शांति पाठ से शुरू हो गया निद्रा का प्रारंभ हो गया पूरा पाठ भी इसी प्रकार शांति पाठ से ही जब प्रारंभ हो जाता है सुबह आरंभ तो पूरा पाठ समय चल जाएगा ये सुश्रुति को चल जाता है तो सर्वानर्थ बीजावस्था ये नहीं सोचना निद्र हो जाने पर अच्छा है ध्यान में बैठकर कुछ लोग सो जाते हैं बड़े खुश होते हैं ये अच्छा अच्छा ध्यान लग गया नींद लगी ये सुसुप्ति अवस्था को चलते सर्व अनर्थ बीज अवस्था अनर्थ का बीज सब संस्कार रहता है उठने के बाद तो पता चलता है मैं कौन हूँ और क्या करना क्या क्या था सब रहता है तो सुसुप्ति काल में कुछ रहता है नहीं रहता है संस्कार सब रहता है अज्ञान में सब लीन होकर सूक्ष्म रूप से रहते और जगने के बाद फिर जो जैसा हूँ सब स्मरण हो जाता है अन्य कोई स्मरण हो नहीं हो किसके साथ झगड़ा करना है तो वो पहले स्मरण होगा आज इसको बताऊंगा ये पहले हम कैसा कहा उसने ऐसे मेरे और देखा है राग द्वेष पहले अब परमात्मा चिंतन करने वाले उठते ही करते हैं जो अभ्यास करेंगे ऐसे ही हमेशा अभ्यास करते तो उठते ही तुरंत प्रातः स्मरामि हृदय संस्फुर्द आत्मतत्वम तस्फुर हो जाएगा और जो बार-बार हमेशा ही कुछ करते हैं तो ही चिंतन होता है तो सुषुप्त अवस्था में सब अनर्थ बीज अवस्था जैसे बीज संकुर होकर के वृक्ष हो जाता है इस सुषुप्त अवस्था में सब बीज और वृक्ष रहते हैं फिर प्रकट हो जाता है जागृत स्वप्न में तद व्यावृत ऐसे समाधि करते समय ऐसी अवस्था हो जाए तो अच्छा है ऐसे तद व्यावृते पूर्णम ब्रह्मास्मिति आवृतो योजयत लय संबोधयत चित्तम मांडवी को कारिका में है विक्षिप्तम समयत पुनः सकसायम विजानियात समहम प्राप्तम न चालयत ये लय अवस्था है तो लय संबोधय चित्तम चित्तम सम्यक बोधयत पूर्ण ब्रह्मास्मिति आवृतो योजयते मन को लगाए चित्त में चित्त को लगाए सम्यक बोधयते अहम अस्मि ब्रह्म मैं कौन हूँ अपने स्वरूप में हम अस्मि ब्रह्म ये चिंतन करे मन को उसमें लगाए खाली हो जाने पर कुछ लाभ न लय अवस्था है गाढ़ निद्रा हो बीच बीच में थोड़ा इससे चलते रहे लय अवस्था गाढ़ सुसुप्ति कम की होती है किंतु बीच बीच नीचे से झुक जाएगा फिर तोड़े फिर जो गिर जाएगा ऐसे करते करते एक घंटा चले जाता है खुश हो गया ध्यान लग गया लय संबोधित पुन्नम ब्रह्मास्मिति आवृत्ति करे और आवृत्ति करने के जब लगे नींद लगी तो विक्षेप नहीं है कि जब हम ब्रह्म चिंतन कर लगे फिर मन भाग गया इधर तो नियुक्तम विशेष विक्षिप्तम चेत आवृत्ति में मन को लगाया हम अस्मि ब्रह्म तो अहम कहते समय ब्रह्म क्या देहादि में आ गया देहादि में अहम अहम बुद्धि होने से देह संबंधी फिर कोई देर देह संबंधी अपना कोई प्रिय है कोई अप्रिय है कोई शत्रु कोई मित्र ये सोचा लगे तो इसमें में फिर विक्षिप्तम विक्षिप्तम समेत पुनः तो यदि विषय में विक्षिप्त विषय चिंतन करने लगा तो क्या करेंगे तद्दोष दर्शन न तत्वपि व्यावर्तेते विषय में दोष दृष्टि करने से ही विषय से मन हटेगा वैराग्य का कारण है दोष दृष्टि मन भागता है विषय में ध्यान करने लगते हैं मन चल जाता है जहाँ चल जाता है मन वो अपने आप देखे निश्चय करे कुछ वासना वहाँ है मन को अच्छा रस मिलता है मन वहाँ दौड़ता है हम ध्यान करने बैठते मन क्यों उधर चला गया चला गया उसको मन को कुछ मिलता है उस मन से पूछे क्या मिलता है क्या किस ले जाते हो क्या मिलेगा क्या लाभ है क्या नहीं कितने जन्म में कितने दौड़ दौड़ कर सब प्रकार भोग कर लिया फिर भागता है अब विषय में अनित्यत्व तो दुख मिश्रितत्व बहुत दोष है सब अनित्य है सब साथ ही से जो प्राप्त हो जाए उससे किसको अधिक मिला तो हमारे में कम हो गया ये सातिशय तो दुख है कोई सोता है ना हमको इतने मिल जाए तो हम दुखी नहीं होंगे जो नहीं मिलता है सोता इतने मिल जाए किंतु उतने मिल गया तो आगे देखता अरे उसको तो अधिक मिला पहले सोता था इतने मिल जाए तो खुश है किंतु किसको अधिक मिल गया हां उसको तो अधिक मिल गया फिर कम हो गया अपना फिर अधिक मिल गया तो और वही अधिक हो गया तो और कम हो गया ये से है निरति से आनंद तो परमानंद ही है उससे जितने भी प्राप्त होते संतोष नहीं होता है और चाहिए और चाहिए विषय में सातिशयत्व अनित्यत्व दुख मिश्रितत्व और प्रयत्न करने पर सब मिल जाएगा ऐसा नहीं अपने कर्म में प्रारब्ध में तो मिलेगा नहीं तो नहीं हाँ अभी कुछ कर्म करेगा तो आगे मिलेगा जो बहुत विषय प्राप्ति की इच्छा करते हैं कुछ थोड़े बहुत साधन भजन करते हैं इस जन्म में प्रारब्ध नहीं तो क्या होगा परमात्मा उसको अगले जन्म में जो चाहता है भोग करने के लिए वो भोग देंगे अभी ध्यान कर बैठा है कि चाहता है मुझे हमको मिल जाए तो परमात्मा उसको परमात्मा क्या देंगे परमात्मा दर्शन देंगे या जो चाहता है उसको देंगे जो चाहता है देंगे <laughs> दर्शन क्यों दे तुम चाहते जो तो इस जन्म में नहीं मिलेगा तो अगले जन्म में मिलेगा <clears throat> कर्म के अनुसार प्राप्त होगा ये विक्षेप होता है मन चलता है इधर उधर लय संबोधे चित्तम विक्षिप्तम समेत पुनम दोष दृष्टि करके मुख से इंद्रिय को हटाए मन को हटाए तत्व भी व्यावृत्ते उससे भी हटाए निद्रा अवस्था लय में सम्यक बोधन करके आवृत्त करामस्मि ब्रह्म फिर विक्षिप्त होता उससे दोष दृष्टि करके हटाए मन को विषय में दोष दृष्टि करने पर ही वैराग्य होता है उसे हटाए विषय में दोष है चिंतन करना पड़ता है व्यावृतम अपि तत सकसायम बीजानियात लय अवस्था नहीं विक्षिप्त विक्षेप अवस्था भी नहीं है मन तो हट गया किंतु तत तटस्थम चेत स्याद विशेष हट गया निद्रा नहीं है किंतु इसे तटस्थ हो गया उसको ही कोई लोग मान लेते बड़ा ध्यान मन खाली हो गया निद्रा भी नहीं है विषय चिंतन नहीं खाली हो गया इसको कहते हैं सकसायम कसाय अवस्था है तटस्थ यदि रहे तटे तिष्ठति इति तटस्थम तट में स्थित है पानी बह रहा है पानी में कोई जा रहा है उसका कोई मतलब नहीं इसी प्रकार वो स्थित है मन अपने से रह गया ध्येय चिंता नहीं करता है ऐसे रह गया स्थिर होकर के साप यावत कसाय अवस्था तत्व निरुद्ध मनो ये कसाय अवस्था है ये कषाय राग आदि कसा है जब तक ये सब कसाय है तो से मन को हटाए मन को निरुद्ध करके यदा न जागृति न सपिति न च अंतरालावस्थम भवति यदा न जागृति जागरण का तो इंद्रिय विषय उपलब्धि इंद्र से विषय ग्रहण करता है तो जागृति मन इधर-उधर ग्रहण करता है तो जागृति और यदि सो सपिति सो जाता है निद्रा लयावस्था जागृति मतलब विक्षेप नहीं न का तो लयावस्था नहीं न च अंतरालावस्थम भवति अवस्था में अवस्था में नहीं रहता है तो फिर क्या करता है पुण्य ब्रह्माभासकतया विक्षीण भवति ब्रह्म ही परिपूर्ण है पुण्य है अद्वितीय है भूमा है पूर्ण ब्रह्म उसी ब्रह्म का अवभाषकतया उसका अवभाषक ब्रह्म को विषय करने वाले वृत्ति है अहम अस्मि ब्रह्म वही ब्रह्म का अवभाषक प्रकाशक यद्यपि वृत्ति प्रकाशक नहीं है तो भी गौण प्रयोग है वृत्ति चिदावास विशिष्ट होकर के आवरण का निवर्तक है आवरण को निवृत्त कर देती है आवरण का निवर्तक होने से उसको ज्ञान कहते हैं प्रकाशक कह देते हैं वस्तु तो प्रकाशक नहीं है आवरण निवृत्त हो जाने मात्र से ब्रह्म स्वयं है तो ब्रह्म को विषय करने वाले वृत्ति है तो मनो सम ब्रह्म अवासक होकर के क्षीण तो ब्रह्माकार वृत्ति होकर के स्थित है अहम असीम ब्रह्म उसमें स्थिर रहता है करके करते उसमें है और कुछ नहीं पहले पहले मालूम होता है कि मैं ध्यान कर रहा हूँ ध्याता ध्यान ध्य त्रिपुटी का भान होता है किंतु लगातार इतने ध्यान करता है तो ध्यात्री ध्यान परित्यज्य क्रमाधेयक गोचरम निवात दीप व चित्तम समाधि रविधीयते ध्यान कर रहा हूं धाता में हूं ध्यान ये सब उचोड़ करके ध्येय चिंतन इसी प्रकार ब्रह्माकार वृत्ति करते समय पहले पहले मालूम होता है थोड़ी ब्रह्माकार वृत्ति हुई फिर नष्ट हो गया फिर हुई मैं कर रहा हूं ध्यान कर रहा हूं वृत्ति कर रहा हूं किंतु वृत्ति लगातार इतने दृढ़ हो जाए तो और कुछ ये भावना नहीं रहे कि मैं ध्यान कर रहा हूँ वृत्ति कर रहा हूँ ये कुछ नहीं निरंतर उसमें क्षीण हो गया मतलब वही चलता रहा ब्रह्माकार वृत्ति लगातार होने से विपरीत भावना की निवृत्ति एकाग्रता होती है तदा सर्वा अनर्थ वियोग लक्षणा सावस्था भवति लय विक्षेप कष्टाय रहित तो, जो वृत्ति का प्रवाह है वो अवस्था सर्वेशा मनतानम वियोग अनर्थ वियोग लक्षण है अवस्था होती है भाष्य में मंत्र में मंत्रमिद अप्रमत्त तथा भवति अप्रमत्त का तो प्रमाद वर्जित प्रमाद रहित हो जाए किसके प्रति समाधानम प्रति समाधि के प्रति समाधि के प्रति प्रमाद वर्जित का अर्थ नित्यं यत्नवान तदा तस्मिन् काले उस निरंतर यत्न करते रहे प्रमाद होता है हाँ, करेंगे करेंगे थोड़े थोड़े करते कभी इधर उधर भी मन हो गया ये प्रमाद इसे इसमें प्रमाद वर्जित होकर लगातार चले नित्यम प्रमाद अप्रमत तदा भवति तदा तदा का तो तस्मिन काले तस्मिन काले किस समय यदेव प्रवृत्त योग भवति इति सामर्थ्याद अवगम्यते प्रवृत्त योग योग में जब प्रवृत्त होता है उसी समय प्रारंभ में न कि समाधि लग जाने के बाद अप्रमत भवति अप्रमत विदा नहीं यदेव प्रवृत्त योग प्रमाद वर्जन क्योंकि प्रमाद वर्जन के बिना योग प्राप्त नहीं हो सकता है प्रमाद को शून्य पड़ता सामर्थ्याद अवगम्यते यही सामर्थ्य प्रमाद रहेगा तो योग नहीं हो सकता है इसलिए पहले अप्रमत्त हो जाए प्रमाद रहित तो हो जाए टीका में योगारंभ काले प्रमाद वर्जनम विधेयतया व्याख्याय अनुवाद परतया व्याचष्टे भाष्य में पहले नहीं बुद्धि आदि चेष्टा अभावे प्रमाद संभव अस्ति नहीं बुद्धि आदि चेष्टा चेष्टा अभावे अवग्रह चाहिए चेष्टा के अभाव जब नहीं जो पहले कह दिया बुद्धिश्च न विचेष्टते मन स्थिर इंद्रिय धारण बुद्धिश्चन विचेष्टति पंच ज्ञान मनसो निवृत्त होकर बुद्धि में चेष्टा नहीं है बुद्धि मन आदि में जब चेष्टा नहीं है उस समय प्रमाद कैसे होगा प्रमाद न संभवती जब समाधि अवस्था उस समय प्रमाद संभव है इसलिए प्रमाद का निषेध करते अप्रमत्त का जो विधान किया गया प्रारंभ में क्योंकि जब बुद्धि चेष्टा अभाव हो गया उस समय अप्रमाद प्रमाद अभाव का विधान करना व्यर्थ है बुद्धि आदि चेष्टा नहीं तो प्रमाद संभव नहीं तो अप्रमत अभाव का विधान कैसे होगा तो फिर अप्रमत कब हो तस्मात् प्राग एव बुद्धियादि चेष्टो परमाद अप्रमाद विद्यते बुद्धियादि चेष्टा समाप्त होने के पहले ही अप्रमाद विधान किया गया पहले अप्रमाद हो तो समाधि होगी बुद्धियादि चेष्टा का उपरम संभव है इसलिए अप्रमाद तदा भवति जो अप्रमाद तदा भवति का प्राग एव पहले किसके पहले बुद्धि आदि चेष्टा उपरमाद बुद्धि आदि में चेष्टा उपरम समाप्त होने के पहले अप्रमाद विधान तभी समाधि होगी तो ये अप्रमत तदा भवति का भवेत तब अप्रमत हो तदा का अर्थ नहीं समाधि काल में समाधि के पहले बुद्धि आदि परम होने के पहले प्रमाद का त्याग करे तब समाधि होगी अप्रमाद विधियते विधान किया गया अप्रमाद बुद्धि आदि चेष्टा में के पहले टीका में आरंभ काले प्रमाद वर्जनम विधेयतया व्याख्याय अभी व्याख्यान हुआ योग के आरंभ अवस्था में प्रमाद का वर्जनम विधेय श्रुति के द्वारा विधान किया गया प्रमाद नहीं करे आरंभ काल में प्रमाद वर्जन करेगा तो आगे समाधि को प्राप्त करेगा इस प्रकार व्याख्यान करके अभी अनुवाद परतया व्याचष्टे अभी अप्रमत तदा भवति अनुवादे अप्रमत वस्तु तो होता उसी समय ये अनुवाद का तो सिद्ध का कथन विधि नहीं है पहले तो विधान क्या गया अभी कहते अनुवाद प्रत्यय अथवा भाष्य में अथवा यदेव इंद्रियाणाम स्थिराधारणा तदानीमेव तो निरंकुशम अप्रमतत्वम इतो अभिधीयते अप्रमत तदा भवती इति अप्रमाद प्रमाद वर्जन का विधान पहले क्या योग आरंभ काल में अथवा कह करते गए अथवा क्या है अप्रमत तदा भवति ये सिद्ध कथन तद तभी वस्तु तो अप्रमत होता है तब तक प्रमाद अवश्य हो जाता है यथ अथवा यदेव इंद्रियाणाम सिराधारणा जब सब इंद्रिय में स्थिर धारणा होती है बुद्धि में चेष्टा नहीं तदानिमेव उसी समय ही निरंकुशम अप्रमतत्वम उस समय निरंकुश अप्रमतत्वम प्रमाद का अभाव निरंकुश अन्य समय प्रमाद अभाव थोड़ा होता है किंतु अंकुश के साथ अंकुश होता है कोई विरोधी है थोड़े समय मौका मिला फिर प्रमाद हो जाएगा निरंकुश है निर्विघ्नम पहले जो प्रमाद वर्जन होता है विघ्न रहता है प्रमाद हो जाता है किंतु जब इंद्रिय धारण मन बुद्धि स्थिर हो गई तो वास्तव निरंकुश अप्रमत्त तभी होता है जब स्थिर धारणा होगी ध्यान लग गया तब निरंकुशम अप्रमत्तत्वम ये अनुवाद किया गया विधान नहीं वस्तुतः ऐसा अवस्था होने पर अप्रमत्तत्व वास्तव ही होता है प्रमाद वर्जन तभी होता है नहीं तो जब तक समाधि नहीं तब तक प्रमादी प्रमादि की संभावना है इसलिए तत्परता का विधान किया तत्पर संयत इंद्रिय तत्पर होकर के अनुष्ठान करे थोड़े प्रमाद हुआ तो फिर कहां से कहां पहुंच गया जब बुद्धि आदि स्थिर हो जाती तभी निरंकुश संप्रमत होता है ये तो अविद्यते अप्रमत तदावते अविद्यते मतलब कहा जाता है अनुवाद किया जाता है तभी अप्रमत होता है यहां विधान नहीं है पहले तो विधान क्या था योग आरंभ काल में प्रमाद वर्जन अथवा कह करके जब ऐसे बुद्धि स्थिर हो जाती है इंद्रिय मन व्यापार समाप्त हो जाता है वास्तव अप्रमत्तत्व तब भी होता है प्रमाद का अभाव तब होता है कुतः क्योंकि योग ही ठीक टीका में यही कुतः जो प्रश्न किया गया किसी पक्ष में दो पक्ष होया अप्रमत्त तथा भवति प्रथम पक्ष क्या है विधि प्रथम पक्ष विधान द्वितीय पक्ष है अनुवाद दोनों में से कुतः प्रश्न किस पक्ष में विधि पक्ष टीका में विधि पक्ष हेतु पुच्छति विधान क्या गया योग आरंभ काल में प्रमाद वर्जन क्यों कुतः उसका उत्तर योग ही प्रभावाप्य योग ही ही कहते अस्माद क्योंकि योग प्रभावाप्ययो प्रभवश्च अप्यश्च प्रभय उत्पत्ति अपे नाश उपजन अपाय धर्म को उपजन अपाय धर्म वाला उत्पत्ति ह्रास वाला उत्पत्ति नाश वाला इति अर्थ कुछ संस्कार उत्पन्न होता है कुछ संस्कार नष्ट होता है योग अभ्यास करते समय सत्व गुण बढ़ता है रज गुण तमो गुण कम होता है समाधि संस्कार बढ़ता है वित्तान संस्कार घटता है पाप नष्ट होता है अतो अपाय परिहाराय तो अपाय परिहार ये योग करते समय एक तो पुण्य पाप का होता है और हास बुद्धि वाला उपतप्ति नाश वाला योग करते करते कभी-कभी कुछ नहीं होता है खाली हो गया अपाय परिहाराय अपाय नहीं हो समाधि में स्थिर हो समाधि का नाश नहीं हो इसलिए पहले अप्रमाद विधान किया गया कि योग करते समय एक तो होता है संस्कार बढ़ता है अपाय होता है ह्रास होता है ये तो अच्छा है किंतु कभी-कभी समाधि होती है समाधि कभी नहीं होता है अपाय का तो नाश और समाधि का नाश अपाय परिहार का तो समाधि का भ्रंश परिहार आया समाधि अभाव परिहार आया समाधि नहीं होगी प्रमाद करेगा तो प्रारंभ में अप्रमत्त होकर के प्रारंभ करे तो समाधि को जाएगा प्रमाद होगा तो अपाय होगा अपाय मतलब नाश समाधि का नाश संस्कार शुद्ध संस्कार भी नहीं रहेगा समाधि नहीं लगेगी उसको परिहार करने के लिए पहले अप्रमत्त हो प्रमाद रहित होकर के प्रारंभ में इसलिए कुछ प्राणायाम करते हैं स्तोत्र पाठ भगवान शांति पाठ करते हैं इस गुरु सौ गुरुम प्रणम्य ध्यान करते समय गुरु को प्रणाम करके प्रारंभ करते हैं तो प्रमाद रहित तो होकर प्रारंभ करे तब तो ध्यान करके समाधि को जाएगा अप्रमाद कर्तव्य अभिप्राय हाँ विधि पक्ष में क्योंकि प्रभवाप्य है उत्पत्ति नाश वाला है इसलिए नाश नहीं हो समाधि में स्थिति बनी रहे इसलिए पहला अप्रमाद का विधान किया गया <clears throat> उत्तर मंत्रम अवतारयितुम शंका उद्भावयति आगे का मंत्र अवतरण करने के लिए पहले शंका कथन करते भाष्य में बुद्ध्यादि चेष्टा विषय चेत ब्रह्म इदम तदिति विशेषत गृह्यत बुद्ध्यादि ऊपर में च ग्रहण कारण भावत अनुपलभ्यमानम नास्तिव ब्रह्म ब्रह्म प्राप्ति के लिए साक्षात्कार करने के लिए योग करने के लिए कहा गया पहले ब्रह्म है या नहीं है ये तो विचार हो निश्चय हो बुद्धि आदि चेष्टा का विषय यदि ब्रह्म है ऐसे बुद्धि से हम घटपट का निश्चय करते हैं बुद्धि आदि चेष्टा व्यापार का यदि विषय ब्रह्म होता तो इदम तत् करके ग्रहण होना ग्रहण होता ब्रह्म का ज्ञान होता इदम तत् तद ब्रह्म इदम इदम ब्रह्म य ऐसे अयम घटः यम रज्जु यम सुक्ति ऐसे ज्ञान होता है इदम ब्रह्म ऐसे ज्ञान होना चाहिए विशेषता गृह तो इदंतेन विशेष रूप से यही घट है यही पट है यही पुष्प है इदम तद ब्रह्म ऐसा विशेष ग्रहण होता विशेष ग्रहण तो नहीं होता है इसे बुद्धि का नहीं अब बुद्धि यदि नहीं नहीं रहे अब बुद्धि आदि ऊपर में चल जब ध्यान कर बैठा बुद्धि आदि ऊपर में हो गया तो फिर किसके द्वारा ग्रहण होगा आंखें भी इंद्रिय भी बंद कर दिया मन भी नहीं बुद्धि भी नहीं रहा बुद्धि आदि उपरम से ग्रहण कारण अभावाद बुद्धि आदि उपरम हो गया तो ज्ञान का कारण साधन ही नहीं रहा ग्रहण का कारण साधन नहीं उनसे फिर उपलब्धि कैसे होगी ज्ञान ज्ञान कैसे होगा बुद्धि से तो उपलब्ध होता है सुश्रुति अवस्था में गाढ़ निद्रा में सो गया बुद्धि काम नहीं करती तो पास में कोई आया गया चोर आया कुछ पता नहीं चलता है ग्रहण कारण अभावत जब बुद्धि आदि उपरम हो गया समाधि अवस्था में ज्ञान का कारण नहीं रहा तो अनुपलभ्यमानम उपलब्ध नहीं होगा तो फिर कब उपलब्ध होगा बुद्धि का विषय नहीं इदम तद ग्रहण होना चाहिए नहीं होता है और बुद्धि आदि उपरम हुआ तो ज्ञान का कारण ही नहीं रहा ऐसे ब्रह्म अनुपलभ्यमानम कभी तो उपलब्ध नहीं होता है किसी ने तो देखा नहीं इसलिए ऐसे ब्रह्म ब्रह्म कहते हैं वस्तुतः नास्त्यव ब्रह्म ब्रह्म को कोई है ही नहीं जैसे सस्य विषाण बंध्या पुत्र देखा है किसने ऐसे प्रकार है ही नहीं कैसे देखें ब्रह्म इस प्रकार होता तो दिखता दिखता नहीं तो नहीं है नास्ते ब्रह्म यदि कर्ण गोचर तद अस्तिति हम क्योंकि अस्थि हम किसको कहें इंद्र का विषय है तो अस्थि लोक में कहा जाता है यदि कर्ण गोचर इंद्र का विषय घटपट रूप आदि तद अस्ति अस्ति अहे करके कहती है प्रसिद्ध लोक में जो इंद्र का विषय नहीं विपरीतम च असद विपरीत है ही नहीं बंध्यापुत्र जिस प्रकार कभी किसी ने देखा नहीं तो असत है बंध्या बंध्यापुत्र है ही नहीं अतश्च अनर्थ को योग फिर वो योग अनर्थ के क्यों योग करना क्या मिलेगा योग अनुसार करने पर बंध्यापुत्र का प्रत्यक्ष हो जाएगा क्या जो असत्य है उसको कहते कि जितने प्राणायाम करो शीर्षासन करो शीर्षासन करो प्राणायाम करो वेदांत श्रवण करो कुछ भी करो बंध्या पुत्र का प्रत्यक्ष होगा इसी प्रकार ब्रह्म कोई होता तो साधन कर से योग करें तो ज्ञान होता ऐसा कोई ब्रह्म है ही नहीं तो क्यों साधन करना अनर्थक योग और नहीं तो मानता तो अथवा नास्ति इति उपलब्धव्यम ब्रह्म जब उपलब्ध नहीं होता ब्रह्म का ज्ञान कैसे होना चाहिए ब्रह्म नास्ति ऐसे उपलब्धि होगी अस्ति नहीं ब्रह्म नास्ति नास्ति ब्रह्म अनुपलभ्यमानत्वाद वा अनुपलब्ध नहीं उपलब्ध नहीं होता है तो नास्ति इति उपलब्धव्यम ब्रह्म है ही नहीं असत्य है इसे उपलब्धि होनी चाहिए इसे बंध्या पुत्र असत है इसी प्रकार ब्रह्म असत्य है ऐसे ज्ञान होना चाहिए इतवम प्राप्त इदम से देशा प्राप्त होने पर आगे उत्तर देते हैं बौद्ध मत है असत्य कुछ है ही नहीं शून्य है तुच्छ है जिस प्रकार आप ब्रह्म का विवर्त वेदांत में कहते हैं और समाधि में लाकर बैठा बैठी बैठ कर देखा सब का अभाव हो गया और कुछ दिखता ही नहीं श्रुति प्रमाण अनादर करके ऐसे बैठने पर फिर आगे क्या कहेंगे पहले पहले तो कभी कुछ प्रकाश देखा कुछ शब्द सुना वाकर उपदेश करते साक्षात्कार हमको हो गया क्या साक्षात्कार हो गया बहुत प्रकाश दिखता है ज्योति दिखती है कोई कहता लाल दिखता है कोई कहता सफेद दिखता है कोई छोटा कोई बड़ा यही ब्रह्म आत्मा आलोक देख रहे हमें स्वयं भ्रांत दूसरे को भ्रांति में डालेंगे और कोई कहता नहीं ऐसे इतने सुगंध हुआ इतने शब्द सुनाई पड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो सुन करके लोगों को बताएंगे ऐसे बहुत कहते कुछ होता होता करके और कोई अधिक हुआ तो कहे ये शब्द जब सुनाई पड़ता है रूप कुछ दिखता है उसको भी निराकरण करना है मिथ्या है जो ज्ञेय पदार्थ दिखता वो मिथ्या है थोड़े आगे सब कर दिया तो और कुछ नहीं दिखता है एकाग्रता नहीं होने पर कुछ कुछ दिख जाता है कुछ सुनाई पड़ा आगे फिर जब कुछ नहीं सुनाई पड़ा कुछ नहीं देखा और समाधि से उठे बताया कुछ है नहीं सब तुच्छ शून्य है शून्य है सब और कुछ है पदार्थ नहीं आत्मा नाम कोई पदार्थ नहीं सब शून्य है शून्य माध्यमिको विवर्तम अखिलम मुख्य माध्यमिको विवर्तम अखिलम शून्य से मैंने जगत माध्यमिक मत है शून्य का विवर्त है आप ब्रह्म का विवर्त कहते हो ब्रह्म को ये नहीं ब्रह्म तो तुच्छ है इसे असत का विवर्त सारे जगत कहते हैं असत घट है ही नहीं कुछ इसलिए ब्रह्म की उपलब्धि यदि हो तो कैसे होनी चाहिए नास्ति असत है इसे बंध्यापुत्र का ज्ञान होता है बंध्यापुत्र का ज्ञान होता है अत्यंत असत्यपि अर्थे ज्ञानम असत्यपि ज्ञान शब्द करोति असत्य अर्थे शब्द ज्ञानम करोति असत अर्थ से शब्द से ज्ञान होता है शब्द से जो ज्ञान होता है वस्तु शून्य विकल्प पहले क्या है शब्द ज्ञान अनुपाति शब्द का ज्ञान हुआ शब्द ज्ञानम अनुपतति गच्छति अनु, अनुपाति शब्द ज्ञान के पीछे बंध्या पुत्र ये शब्द का ज्ञान होता है बंध्या पुत्र शब्द का ज्ञान होता है क्या प्रत्यक्ष परोक्ष प्रत्यक्ष होता है हाँ, श्रवण इंद्रिय से शब्द का प्रत्यक्ष होता है शब्द ज्ञान होने के बाद पीछे एक वृत्ति होती है इसको कहते विकल्प कैसे वृत्ति वस्तु शून्य वस्तु अर्थ नहीं अर्थ शून्य विकल्प बंध्यापुत्र सस्य विषाण कहेंगे तो सस्य विषाण कहेंगे तो ज्ञान होता है ये भी एक शब्द है मूषक विषाण खर विषाण मनुष्य विषाण ये सब अलग-अलग शब्द है अलग-अलग किंतु अर्थ में विकल्प वृत्ति होती है तो मीमांसा कहते हैं अत्यंत असत्य अर्थ भी शब्द से ज्ञान होता है प्रत्यक्ष नहीं होता है असत बंध्या पुत्र का प्रत्यक्ष नहीं होता शब्द से ज्ञान होता है इसे मानते हैं तो असत्य से ब्रह्मद्यापुत्र जैसे असत्य है ऐसे ब्रह्म असत्य ऐसे ज्ञान होना चाहिए किंतु अभी बताते तो वास्तविकता नहीं है घटो अस्ति इति प्रतिपन्नस्य घटो अस्ति ऐसे कभी प्रत्यक्ष होता है घट का घटो अस्ति तोड़ दो तो घट रहेगा क्या होगा शून्य हो जाएगा घटो अस्ति इति प्रतिपन्नस्य घटस्य मुद्गरा विघातात् मुद्गर से पार प्रार दिया नष्ट हो गया चूर्ण कर दिया विलापने घटाकार रहेगा घटाकार रहेगा ना नहीं घटाकार एव विलीयते घटाकार तो नष्ट हो गया किंतु शून्य नहीं न अस्तित्व अंश घटो अस्थि में दो अंश है एक घट एक अस्थि अस्तित्व और घट अस्तित्व घट दो अंश में घट तो नष्ट हो गया अस्तित्व अंश नष्ट हो जाएगा अस्तित्व अंश रहता है क्योंकि तस्य कपाल आदि अपि अनुभूति दर्शनाद घटो नष्ट हो गया किंतु कपालम अस्ति और तोड़ दिया कपालिका अस्ति और तोड़ दिया अंत में चुन्नम कुछ ना कुछ अंतर रहता है तो अस्तित्व अंश का नाश नहीं हुआ घटाकार तो नष्ट हो गया अस्तित्व अंश रहता है घट में था अभी कपाल में चूर्ण में रहता है अनुभूति दर्शनाद इसलिए घट कार्य का जो नाश होता है कुछ ना कुछ रहता है अतः कार्य प्रविलापन से अस्तित्व निष्ठत्वात् अस्तित्व निष्ठ है कार्य नष्ट हो गया तो कुछ ना कुछ उसका अवयव रहा जहां नहीं दिखता वहां भी अवयव रहता है चूर्ण कर देंगे तो भी अवयव रहेगा उसको सूक्ष्म रहता है काष्ठ को जला देंगे तो कुछ रहेगा और राख रहता है पानी मिला दो तो रहेगा और पानी मिलकर रहेगा तो रहता है अस्तित्व निष्ठ है न शून्यता परिवसाई शून्य में समाप्त हो जाता है नाश होने पर शून्य हो जाएगा ऐसा नहीं जो लय हो जाता है कारण में कारण कारणात्मन अवस्थानम कार्य कारण रूप से रहता है उसका नाम लय प्रलय मिट्टी का लय हो गया मिट्टी घट का घट का लय हो गया तो घट मिट्टी रूप से रहा मृद रूप से मृद रूप हो गया इसी प्रकार सारे प्रपंच अज्ञान में लीन होता है तो अज्ञान आत्मक रहा शून्य नहीं होता है लय शून्यता में परेशान नहीं होता इति उत्तम एतत् स्फुटयति इसका है स्पष्टीकरण पूर्व पीछे ने कहा नास्तित उपलब्धव्यम ये ब्रह्म एतवम प्राप्त इदम उचित ऐसा प्राप्त हम होने पर कहते हैं नैव वाचा न मनसा प्राप्तुं शक्यो न चक्षुषा अस्ति इति ब्रुवतो अन्यत्र कथं तदुपलभ्यते नैव वाचा न मनसा न चक्षुषा प्राप्तुम सक्य वो जो ब्रह्म है शब्द के द्वारा मन के द्वारा चक्षु के द्वारा किसी इंद्र के द्वारा प्राप्त नहीं हो सकता है अस्तिति ब्रुवतोन्यत्र कथम तदुपरभते अस्ति ऐसे जो कहते अस्ति ब्रह्म सद सद ऐसे तो ज्ञान होगा आगे कहेंगे किस प्रकार ज्ञान होगा अन्यत्र कथन तदुपलभ्यते नास्ति असद ब्रह्म कैसे उपलब्धि होगी असत्य की उपलब्धि नहीं होती नैव वाचा न मनसा न चक्षुषा तो दो तीन नाम ले लिया वाग इंद्र चक्षु ज्ञान इंद्र कर्म इंद्र एक एक नाम लिया नान्यरपि इंद्रिय ही प्राप्तुम शक्यति तीर्थ किसी भी इंद्र से प्राप्त नहीं हो सकता है अन्य इंद्र से प्राप्त नहीं होगा तथापि सर्व विशेष रहितोपि जगत मूलम इति अवगतत्वाद अस्त्येव कार्य प्रविलापन से अस्तित्व निष्ठत्वात् तथा भी सर्व विशेष रहितो भी कोई विशेष ब्रह्म में है ही नहीं रूप रस गंध स्पर्श आदि कुछ नहीं जाति गुण क्रिया संबंध कुछ है ही नहीं निर्विशेष है ब्रह्म निर्विशेष है कोई विशेष नहीं विशेष सर्व विशेष रहित होने पर भी जगत का मूल है कारण है जगत तो मूलम इति अवगतत्वात् पहले निश्चय हुआ ऊर्धमूल अभाग का कह करेगा कार्य से कारण का निश्चय होता है जगत का मूल है इति ज्ञात हुआ अस्ति एव कारण कार्य प्रविलापन से अस्तित्व निष्ठत्वाद क्योंकि कार्य जो तोड़ देते हैं अंत में अस्तित्व अस्थि रूप से घटाकर नष्ट हो जाएगा अस्तित्व अंश नष्ट नहीं होता है कपाल में रहता है कपालिका में चूर्ण में इसलिए अस्तित्व निष्ठ अंत में कुछ ना कुछ अवशेष रहता है टीका में इसका स्पष्टीकरण तथा ही तथा ही इदम कार्य सूक्ष्म तारतम्य पारंपरेण अनुगम्यमानम सद्बुद्धि निष्ठामेव अवगमयति जितने कार्य है सूक्ष्म तारतम्य पारंपरेण अनुगम्यमानम कोई कार्य है तोड़ दिया छोटा उसके छोड़ दिया छोटा कप कप घट कपाल कपालिका चूर्ण सूक्ष्म तारतम होकर के परम प्रश्रय अस्ति अस्ति अस्ति घटो अस्ति तोड़ दिया तो कहीं कपालम अस्ति कपाल तोड़ दिया तो कपालिका अस्ति उसको तोड़ दिया तो सकलम अस्ति टुकड़ा अस्ति फिर सकलम खंड इसके बाद के त्रिअणु का द्वयणु का चूर्णम कुछ कहेंगे अंत में नहीं दिखता है तो भी निश्चय होता है कुछ ना कुछ है जहाँ दिखता है वहाँ निश्चय हो गया नष्ट होने पर कुछ अंश रहता है तो आगे भी नष्ट होगा तो उसका अवयव रहेगा अस्तित्व निष्ठ कार्य प्रबिल होता है अस्तित्व निष्ठत्वात् सूक्ष्म तारतम्य पारंपरेण मानम सद्बुद्धि निष्ठामेव अवगमयति ये कार्य सद्बुद्धि निष्ठाम ज्ञान कर जब ऐसे ज्ञान होता है कार्य सूक्ष्म सूक्ष्म होकर के रहता है अंत में सद्बुद्धि निष्ठाम अस्ति सद्बुद्धि निष्ठा को ज्ञान कराता है टीका में स्थूल से कार्य से विलय सूक्ष्म बड़ा कार्य नष्ट हो गया तो छोटा हो गया घट टूट गया टुकड़ा हो गया तत्कानम अवश्यते सूक्ष्म स्थूल कार्य का कान रहता है पटो को फाड़ दिया कुछ रहेगा आंसर रहता है तत्कानम अवशिष्यते तस्यापि विलय फिर पट दो टुकड़ा कर दिया उसको एक टुकड़ा कर दो और टुकड़ा कर दो कुछ रहेगा उसका छोड़ दो घट को तोड़ दिया तो कपाल फिर कपाल का तत्व तो सूक्ष्म हो गया याव दर्शनम व्याप्ति थे जब तक दिखता दिखता है कार्य नष्ट हुआ तो उसका अवयव रहता है जहाँ दिखता है वहाँ निश्चय हो गया कार्य नाश हो गया तो अवयव रहता है अस्तित्व निष्ठम <clears throat> आगे ऐसे टुकड़ा करते करते फिर दिखेगा ही नहीं घट चूर्ण हो गया फिर इसको पानी टुकड़ा कर दिया फिर पानी मिला दिया दिखता नहीं तो जब नहीं दिखेगा यत्र न दृश्यते तत्रापि मूर्त विलयस्य अवश्यं भावित्वात् मूर्त विलयस्य अत्र अमूर्त विशेषित पाठयुक्तं पश्यामः अमूर्त विशेष्य मूर्त विलय से अवश्य भावित्वाद उसका विलय अमृत विशेष्य जब दिखता नहीं है अवश्य है पृथ्वी जल तेज आदि मूर्त है उसका लय हुआ तो कोई ना कोई रहेगा अंत में सन्मात्रमेव अमृतम अवतिष्ठते अमूत्र विशेष्य अमूत्र विषय अमूत्र को विषय करने वाला अमूत्र रहेगा अमूर्त अमूर्त है तो अंत में सन्मात्र ब्रह्म अमृतम अवतिष्ठते इति कार्यमेव सौक्ष्म तारतम्य पारंपरेण अनुश्रियमाणम सद्बुद्धि पुरुष पुरुषसगमे इति तर्थ कार्य यदि नष्ट होता है सूक्ष्म सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम होकर के अनुगत होते होते अंत में सद्बुद्धि निष्ठाम व्याप्ति व्याप्ति का निश्चय हो गया कार्य नष्ट हुआ तो उसका कारण उसका कारण उसका सूक्ष्म उसका सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम है तो इस व्याप्ति होने से आगे कुछ है सद्बुद्धि में निष्ठा अस्ति अस्ति करके सद्बुद्धि निष्ठा पुरुष से गमयति पुरुष को ज्ञान कराती कार्य अंत में सद्बुद्धि है ओम